जंगल के अंगर वाली शहजादी एक वक्त का किस्सा है एक बहुत दूर दराज की सल्तनत में एक मलिका रहती थी जो इतनी खूबसूरत थी कि उस जैसी खूबसूरती पूरी कायनात में कभी नहीं देखी गई थी मलिका और बादशाह सुकून से रह रहे थे अपनी सल्तनत पर हुकूमत करते हुए पर एक दिन उन पर एक बहुत बड़ी आफत नाजिल हुई जब मलिका बहुत बीमार हो गई हकीम साहब ऐसा कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं हमने हर मुमकिन इलाज आजमा लिया है हुजूर आला पर हम कुछ कर नहीं सकते हुजूर आला मलिकाए आलिया आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। अजीजा हकीमों को तंग करना बंद करो मेरे मियाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा जो होना है वो तो होकर ही रहेगा नहीं एक वक्त आएगा जब तुम्हें दोबारा निकाह करना होगा कभी नहीं ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा इसीलिए मैं तुम्हें वक्त दूंगी कि तुम मेरी गैर हाजिरी के आदि हो जाओ मुझसे वादा करो कि अगर तुम दोबारा निकाह करोगे तो तुम ऐसी खातून से निकाह करोगी जो मेरे मानंद खूबसूरत हो मुझसे वादा करो कोई भी इतना खूबसूरत नहीं होता जितनी खूबसूरत तुम हो मोहब्बत में लोग खूबसूरत नजर आते हैं अपनी बेटी का ख्याल रखना उस रात मलिका का इंतकाल हो गया बादशाह गम में मुतला हो गया हालांकि वो हकीकतन अपनी बीबी से मोहब्बत करता था एक साल तक बादशाह ने निकाह मुतलक सोचा भी नहीं जब तक कि एक दिन उसके दरबारी उसके हुजूर नहीं आए हुजूर आला इस मुल्क की खातन का नजरिया है कि यहाँ कोई मौजूद नहीं जो उनकी नुमाइंदगी करे मर्द इतने माहिर नहीं होते जितनी खातन होती हैं कि वो खातन और बच्चों के मसलों की पैरवी कर सकें हमारी सल्तनत में तो तुम्हारे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए हुजूर, मेरी गुस्ताखी को मुआफ करें पर हमारी सल्तनत को एक मलिका की सख्त जरूरत है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुजूर आला ये सिर्फ सल्तनत की तंजीम के लिए अहम है हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप दोबारा निकाह कर लें ठीक है पर मेरी बीवी की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि कोई ऐसी खातून से मैं निकाह करूं जो उसकी मानंद खूबसूरत हो बादशाह सलामत हम अपने पैगाम दूर दूर भेजेंगे मरहूम मल्लिका के इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तो सल्तनत के दरबारियों और नवाबों ने पैगाम रसा भेजे दूर दूर मुल्कों में पर कोई भी खातून इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी मलिका हुआ करती थी और साल गुजरते गए एक दिन बादशाह का एक पुराना दोस्त उनसे मिलने आया बादशाह हुजूर ओह गैरिसन तुम मुझे विक्टर कहकर मुखातिब करो शहजादी को बुलाओ यकीन नहीं आता इतने साल गुजर चुके हैं इतने साल बाद बिना उससे ओ लो वो आ गई मेरी बेटी माशाल्लाह ये तो हूबहू मल्लिका की तरह लगती हैं वैसे ही सुनहरे बाल वैसे ही नूरानी खूबसूरती ये तो हूबहू मल्लिका की तरह लगती हैं उसके दोस्त के इन लफ्जों ने बादशाह के दिल पर नस्तर चुभा दिया और उसने एक फैसला कर लिया आखिर वो वादा जो उसने अपनी मरती हुई मलिका से किया था उसे पूरा करने का वक्त आ गया बादशाह ने अपने दरबारियों को दरबार में तलब किया मल्लिका की ये ख्वाहिश थी कि एक ऐसी खूबसूरत खातून जो उनकी मानिंद ही हसीन हो वो ही सल्तनत की मल्लिका बने मुझे ऐलान करते हुए मशर्रत हो रही है मैंने एक ऐसी खातून को ढूंढ लिया है जो उन्हीं की मानिंद खूबसूरत है एक ही खातून जो उनकी तरह ही खूबसूरत है और वो है उनकी अपनी बेटी वो मलिका बनकर तख्त नसी होगी और उसका विवाह होगा वजीर आलम के बेटे के साथ जो मेरे बाद बादशाह बनेगा ये सुनकर शहजादी को खुशी नहीं हुई तो उसने फैसला किया इस निकाह से बचने का कोई ऐसी शह मांग कर जो हासिल करना मुमकिन न हो अब्बा हुजूर ये मैं क्या सुन रही हूँ ये तुम्हारी अम्मी की तमन्ना थी मेरी बेटी पर मैं किसी ऐसे से निकाह कैसे कर सकती हूँ जिसे मैं जानती तक नहीं ये तुम्हारी अम्मी की तमन्ना थी लेकिन बहुत हो गया मैंने फैसला कर लिया है ठीक है मैं वजीर आजम के बेटे से निकाह कर लूँगी पर वो मुझे चार चीजें मुहैया कराए जो मैं मांग रही हूँ जो भी तुम्हारी ख्वाहिश हो पूरी की जाएगी ठीक है तो फिर मुझे तीन लिबास चाहिए एक उतना ही सुनहरा जितना सूरज है एक चांदी की मानंद चांद की तरह और तीसरा उतना ही चमकीला जितने तारे हैं और आखिर में मुझे एक ऐसा अंग रखा चाहिए जो जंगल की हजार चीजों से बना हो पर किसी फूल किसी परिंदे या किसी जानवर को नुकसान पहुंचाए बिना अच्छी बात है बेटा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी तो बादशाह ने अपनी सल्तनत के सबसे आला जुलाहों को तलब किया और उनसे कहा कि इन लिबासों को बुने उसने अपने फौज के आला सिपासलारों को बुलाया और उनसे कहा कि उस अंगरखे के लिए सामान इकट्ठा करें शहजादी ने सोचा कि उसने कोई नामुमकिन से शह मांगी है और इसलिए उसे वजीर आजम के बेटे से निकाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी देखो इसे तिलिस्म कहो या मोजा जुलाहे कामयाब हो गए एक ऐसे लिबास को बुनने में जो सूरज की तरह सुनहरा था और दूसरा चांद की मानिद चांद चांदी सा और तीसरा सितारों की तरह चमकीला था और अंगरखा बना गिरे हुए पंखों से सूखे पत्तों से और टहनियों से और इस तरह किसी भी बशर को चोट नहीं पहुंची थी उन्होंने शहजादी को एक तिलिस्मी अखरोट भी दिया जिसमें चारों लिबासों को तह लगाकर रखा जा सकता था मेरी प्यारी बेटी तुम्हारी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर दी गई हैं। अब तुम्हारा निकाह वजीर आजम के बेटे से होगा पर अब्बा मैं किसी ऐसे से निकाह कैसे कर सकती हूँ जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ तुमने वादा किया था क्या इसकी वजह यह है कि आप कभी भी इतनी खूबसूरत शहजादी न ढूंढ सके जितनी खूबसूरत मेरी अम्मी थी क्योंकि आप उनसे मोहब्बत करते थे और वो आपके लिए सबसे खूबसूरत थी अम्मी का मतलब यही था जब उन्होंने कहा था कि मोहब्बत में लोग खूबसूरत नजर आते हैं ये कैसे बहुत हो गया अगर तुम्हें अपनी माँ का जरा भी ख्याल है तो तुम उनकी ये ख्वाहिश पूरी करोगी कल तुम्हारा निकाह होगा पर शहजादी एक ऐसे शख्स से निकाह नहीं कर सकती थी जिसे वो जानती तक नहीं तो उसने महल से दूर चले जाने का फैसला कर लिया मुझे माफ करना अब्बा जान किसी दिन आप ये समझ पाएंगे शहजादी घूमती रही पूरे मुल्क में जंगल जंगल गांव गांव एक दिन थक जाने के बाद उसे एक खोखला दरख्त मिला और वो उसके अंदर सो गई जब वो गहरी नींद में थी उस मुल्क का बादशाह जहाँ ये जंगल था वहाँ से गुजर रहा था उसके सिपाहियों ने इस अजीब बाशिंदे को देखा जो दरख्त के खोल में सो रही थी और बादशाह को इसके मुतालिक इत्तला की हुजूर आला वहाँ दरख्त के खोल में एक अजीबो गरीब बाशिंदा है इंसान जितना ही बड़ा है पर वो ऐसा अंगरखा पहने है और इतना अजीब है जैसे पहले कभी देखा ही ना हो जाओ उसे महल में ले आओ तो सिपाही वापस दरख्त के खोल में गए और शहजादी को जगाया जागो कौन हो तुम मैं एक बशर हूँ जिसका ना कोई घर है ना ठिकाना चलो हमारे साथ महल में चलो तुम्हें वहाँ पर काम मिलेगा तो शहजादी महल में गई, जहाँ उसे सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा कमरा दिया गया और वो बावर्ची खाने के खादिमा के तौर पर काम करती रही कई महीनों तक बावर्ची की मदद करते हुए एक दिन बादशाह ने एक दावत दी सब तैयारी कर लेने के बाद दावत शुरू हुई शहजादी ने बावर्ची से पूछा हुजूर यहाँ सारा काम हो गया है क्या मैं जाकर रक्स देख सकती हूँ मैं वादा करती हूँ कि मैं दावत गाह में दाखिल नहीं होंगी ठीक है पर इस बात का ध्यान रखना कि तुम आधे घंटे में वापस आओगी बावर्ची खाने की सफाई करने के लिए शुक्रिया हुजूर मैं आऊंगी शहजादी अपने कमरे में दौड़ी गई उसने अपने मुंह और हाथ से खालीक साफ कर ली अपने अखरोट से उसने वो लिबास निकाला जो सूरज जितना सुनहरा था और उसने अपने सुनहरे बाल खुले छोड़ दिए और रक्स की महफिल में गई जैसे ही वो दाखिल हुई हर कोई हैरत जदा हो गया उसके इस लाजवाब हुस्न को देखकर पर बादशाह उसके सिवाय किसी और के साथ रक्स नहीं कर रहा था जब आधा घंटा गुजर गया अब मुझे जाना होगा हुजूर आला रुक जाओ शहजादी गायब हो गई लोगों की भीड़ से और तेजी से वापस अपने कमरे में आई उसने अपना जंगल का अंगरखा पहना और अपने चेहरे और हाथों को कालीक से फिर से ढक लिया और वापस बावर्ची खाने में काम करने चली गई। मैं वापस आ गई हूँ हुजूर, क्या मैं सफाई करना शुरू कर दूँ नहीं सफाई मुलतवी हो सकती है पहले बादशाह के लिए शोरबा बनाओ जी हुजूर। शहजादी ने बादशाह के लिए शोरबा तैयार किया उसने प्याले में अपने सोने की अंगूठी भी डाल दी उसके ऊपर शोरबा उडेला ताकि वो अंगूठी देखी न जा सके और बादशाह के लिए ये शोरबा भेजा बादशाह ने इसके पहले कभी भी इतना लजीज शोरबा नहीं पिया था उसे वो अंगूठी मिली और उसने बावर्ची को तलब किया बावर्ची क्या आज रात तुमने शोरबा बनाया है हुजूर आला बावर्ची खाने में खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी मेरी है हाँ पर क्या वाकई तुमने ही बनाया है ये शोरबा यकीनन तुम्हारे जैसा नहीं लगता क्या कोई मसला है हुजूर आला हाँ ये शोरबा किसी भी उस शोरबे से बेहतर है जो इससे पहले मैंने पिया है ये यकीनन तुम्हारे हाथ का नहीं हो सकता बावरची खाने की खादिमा ने इसे आपके लिए बनाया है बुलाओ उसे तो शहजादी को बुलाया गया बादशाह से मिलने के लिए क्या ये शोरबा तुमने बनाया है जी हुजूर आला क्या ये तुम्हारी है मेरे जैसी गरीब खादिमा के पास कैसी ऐसी अंगूठी हो सकती है हुजूर आला तुम मुझे उसकी याद दिला रही हो जिसे मैं आज रात रक्स की महफिल में मिला था खैर शोरबा बहुत ही लजीज है शुक्रिया जरा नवाजी के लिए शुक्रिया हुजूर कुछ दिनों बाद महल में एक और दावत रक्स हुई एक मर्तबा फिर से शहजादी ने बावर्ची से इजाजत मांगी रक्स देखने के लिए इस मर्तबा उसने अपना वो लिबास पहना जो चांद की तरह रुपहला था बादशाह ने उसके साथ रक्स किया पर जैसे ही आधा घंटा बीत गया वो गायब हो गई और फिर से बावर्ची खाने की खादिमा बन गई मैं वापस आ गई हूँ हुजूर क्या मैं सफाई करना शुरू कर दूँ नहीं सफाई मुलतवी की जा सकती है पहले बादशाह के लिए शोरबा बनाओ जी हुजूर इस मर्तबा शहजादी ने अपना सोने का हार निकाला और उसे प्याले के पेंदे पर रख दिया और उसके ऊपर शोरबा उडेल दिया ताकि वो देखा ना जा सके और उसे बादशाह के पास भिजवा दिया हम्म, इतना लजीज शोरबा मैंने आज तक नहीं खाया ये क्या है एक हार बावर्ची और बावर्ची खाने की खादिमा को बुलाया जाए जब बावर्ची और खादिमा वहाँ पहुँचे क्या आज रात तुमने शोरबा बनाया है हाँ हुजूर आला क्या ये तुम्हारा है मुझ जैसी गरीब बावरचीन के पास ऐसा हार कैसे हो सकता है हुजूर? तुम मुझे ऐसे इंसान की याद दिला रही हो जिसे मैं आज दावते रक्स पर मिला खैर शोरबा बहुत लजीज था शुक्रिया जरा नवाजी के लिए शुक्रिया बादशाह खुद को रोक न सका उस बावर्ची खाने की खादिमा और उस खातून का राज जानने से जिससे वो दावत रक्स में मिला था वो इस एहसास से जुदा न हो सका कि वो दोनों एक ही इंसान थे इसलिए जब अगले दावत रक्स का वक्त आया तो उसने फैसला किया कि वो इस हकीकत की तहकीकात करेगा हुजूर, यहाँ सारा काम हो गया है मेहरबानी करके क्या मैं जाकर रक्स देख सकती हूँ मैं वादा करती हूँ मैं दावत गाह में दाखिल नहीं होंगी ठीक है पर इस बात का ध्यान रहे कि तुम आधे घंटे में वापस आ जाओगी बावर्ची खाने की सफाई के लिए शुक्रिया हुजूर मैं आऊंगी शहजादी ने अपना वो लिबास जो सितारों जैसा चमकीला था उसे पहना और रक्स की महफिल में गई बादशाह उसके सिवाय किसी और के साथ रक्स नहीं कर रहा था और जब वो रक्स कर रही थी बादशाह ने वो अंगूठी उसकी उंगली में सरका दी जो उसे पहले दिन मिली थी शहजादी को ये महसूस भी नहीं हुआ आधा घंटा गुजर गया मुझे अब जाना होगा हुजूर रुक जाओ क्योंकि आज रात थोड़ी ज्यादा देर तक मौसी चलेगी पर मुझे रुक जाओ मौसी देर तक चलती रही और इस तरह शहजादी को जरा भी वक्त नहीं मिला कि वो वापस बावर्ची खाने के खादिमा के भेष में आए उसने अपनी उंगली पर वो अंगूठी भी नहीं देखी वो बावर्ची खाने में दौड़ी गई कहा थी तुम बादशाह शोरबे के लिए इंतजार कर रहे हैं मैं मुआफ़ी चाहूंगी मैं जितनी जल्दी हो सके इसे बनाऊंगी शहजादी ने सोने की चूड़ी प्याले में डाली और उसे शोरबे से ढांक दिया और शोरबा बादशाह के लिए भिजवाया बादशाह ने उसे तलब किया क्या आज रात तुमने शोरबा बनाया था हाँ हुजूर आला क्या ये तुम्हारी है मेरे जैसी ये गरीब बावरचीन के पास इस तरह की चूड़ी कैसे हो सकती है हुजूर पर तुम्हारे जैसे गरीब बावरचीन की उंगली में ये अंगूठी कैसे आई हाँ हुजूर आला तुम ही वो खातून हो जिसके साथ मैं रक्स कर रहा था कौन हो तुम और फिर शहजादी ने बादशाह को अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया पहली मर्तबा जब मैं तुमसे दावते रक्स में मिला था क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि क्या आप सिर्फ मेरी खूबसूरती से मुतासर हुए हैं या आप मुझसे इतनी मोहब्बत कर सकते हैं कि सब्र रखें और मेरे मुतालिक तहकीकात करें तभी जब आप मुझे बावर्ची खाने की खादमा समझते हैं क्योंकि मेरी अम्मी ने कहा था कि मोहब्बत में लोग खूबसूरत नजर आते हैं मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मुझे परवाह नहीं अगर तुम हकीकत में बावर्ची खाने की खादिमा भी होती क्या तुम मुझसे निकाह करोगी हाँ मैं जरूर करूँगी आखिरकार शहजादी को अपनी सच्ची मोहब्बत मिल गई। उसने बादशाह से निकाह किया उसके वालिद को भी निकाह के लिए बुलाया गया और शहजादी और उसका शोहर हमेशा राजी खुशी रहे